चुनाचे जिन लोगों के दिलों में निफाक का रोग है तुम उन्हें देखते हो कि वो लपक लपक कर उनमें घुसते हैं कहते हैं हमें डर है कि हम पर कोई मुसीबत का चक्कर आ पड़ेगा लेकिन कुछ बईद नहीं कि अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमाए या अपनी तरफ से कोई और बात जाहिर कर दे और उस वक्त ये लोग उस बात पर पछताएं जो उन्होंने अपने दिलों में छुपा रखी थी